ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृणामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरमेस्तुष्ट्वा पुंसस्तम्भुर्दशेमदेवहितन्याय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति अथर्ववेदीय मांडू के कार्य का वैतथ्य प्रकरण के पंचम श्लोक कारिका तक विचार हो गया अब ष्ठ कारिका के विषय में विचार चलना है ष्ठ कारिका में कहा आदौ अंत्य चैन्नास्ती वर्तमान भी तथा विदथ ही सदृशा संतो तथा उपलक्षिता ये जितने भी जागृत के पदार्थ हैं शुरू में नहीं है ये उत्पत्ति के पहले नहीं है हमारा शरीर आदि जो भी अभिव्यक्त होकर के पड़े हैं पहले कुछ दृश्य नहीं था जो जो कोई भी हो कुछ नहीं था वर्तमान में दिख रहा है और कुछ दिन के बाद फिर गायब हो जाएगा अंत में भी नहीं है आदि में भी नहीं है थोड़ी देर के लिए दिख रहा है वो जो भाषणा होता है उस समय भी नहीं है ऐसा समझना क्यों जो रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है सर्प उत्पत्ति के पहले सर्प बुद्धि के पहले सर्प वहां नहीं है रज्जु है और सर्प बुद्धि जब नाश होते है रज्जु बुद्धि हो जाती है फिर सर्प गायब हो गया रज्जु ही है तो वर्तमान में जिस समय दिखता था उस समय का नाश अभाव हो जाता है नहीं था सर्प नहीं है सर्प नहीं होगा सर्प ऐसी बुद्धि बन जाती है वैसे ये पदार्थ जितने भी सब ऐसे है वितथ ही सदृशा संत रज्जु सर्वादि के समान है मिथ्या वस्तु के समान है ये जो प्रातिभाषिक सत्ता में पड़े हुए पदार्थ हैं केवल प्रतिथि काल में दिखाई पड़े अन्य काल में नहीं है उनके समान होते हुए ये जो जागृत के पदार्थ है तथा ये उपलक्षिता वास्तविक जैसा दिख रहा है लक्षित होता है क्योंकि अविवेकी के लिए अधिष्ठान का ज्ञान जिसको नहीं है कल्पना के अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है तो कल्पित पदार्थ को वास्तविक समझता है ये इसका तात्पर्य है तो <clears throat> ठीक है मैं कहते हैं जागृत दृश्याणाम भावान मिथ्यात्व इत्यत्र अनुमान प्रवाह एक अनुमान तो, तो पहले दे दिया जागृत दृश्य जागृत के जो पदार्थ हैं मिथ्या है क्यों दृश्यत्व दृश्यत्व हेतु बैठा हुआ है जहां जहां दृश्यत्व होगा वहां वहां मिथ्यात्व होगा जैसे स्वप्न दृश्य ये दृष्टांत है इस तरह से माने एक हेतु से जागृत के वस्तु सबके सब मिथ्या है न होता हुआ भाषण है ऐसा सिद्ध किया और दूसरे भी एक अनुमान देते एक अनुमान से सिद्ध हो चुका है दूसरा अनुमान भी है अनुमान यही है जो आदि में न हो अंतिम में न हो जो बीच में दिखाई पड़ता हो वह बीच में भी नहीं होता है वो प्रातिभाषिक सत्ता के वस्तु के समान है रज्जु सर्पादि के समान है किंतु अविवेकी के लिए वास्तविकता जैसा लगता है जैसे रज्जु में जिसको सर्प बुद्धि हो गई जब तक सर्वबुद्धि होती तो वास्तविक सर्प मानता है भय पैदा हो जाता है अविवेकी के लिए सर्प दिखता है विवेक के लिए रस्सी दिखती है जब रस्सी दिखे सर्प नहीं सर्प है ही नहीं उस काल में भी नहीं है ठीक इसी प्रकार है ये कहना है इस बात को गीता के द्वितीय अध्याय में कहा ये शरीर आदि हमारे कैसे हैं अव्यक्तादि भूतानी व्यक्त मध्यान्ह भारत अव्यक्त निर्माण होगा तत्र का परिदेव ये जितने भी हैं भवंती भूतानी जितने भी उत्पन्न होने वाले जितने भी हैं उनकी उत्पत्ति के पहली अवस्था देखते हैं तो अव्यक्त है ये आकृति नहीं है हमारा शरीर कहीं जब मैंने पचास साठ साल पहले ये आकृति नहीं थी जो अभी दिख रहे हैं अव्यक्ताधीन भूतानी व्यक्त मध्यान्ह भारत बीच में बीच अवस्था में अभी व्यक्त हो रखे हैं अभी आकृति लेके बैठे हुए हैं सब तत्त शरीर बन के बैठे हुए हैं और अव्यक्त निधनानी और आगे जाके अव्यक्त में निधन होना है आगे भी अदृश्य में होना है आगे अदृश्य होगा दो चार साल दस साल बीस साल तक समाप्त हो जाएगा यादकृति रहेगी नहीं व्यक्त ध्यान भारत है बीच में ही थोड़ा दिखाई पड़ते हैं ऐसा है पहले भी है अव्यक्त है आखिर में भी अव्यक्त ही होना है मैंने इसको कहा है अदृष्ट दृष्ट नष्ट स्वभाव संसार के वस्तु को ही कहा है पहले अदृष्ट अवस्था में रहता दिखाई नहीं पड़ता उत्पत्ति के पहले अदृष्ट अवस्था में है कोई भी वस्तु है और जब उत्पन्न हो, होता है उस काल में दृष्ट हो जाता है फिर आगे नष्ट रूप में चला जाता है संसार के वस्तु की यही प्रक्रिया है सभी वस्तु ऐसे ही हैं तो गीता में अव्यक्तादीन भूतानी व्यक्त मध्यान्ह भारत अद्वैत निधान ने वह तत्र का परिदेवना उसमें क्या शोक करना किसके शोक करना है जितने भी हैं अव्यक्त में लीन होना है अव्यक्त से निकले हैं अव्यक्त में जाएंगे सर्प जो दिखता है रस्सी रस्सी से निकलता है रस्सी में विलय होता है अधिष्ठान से निकलते हैं कल्पित वस्तु अधिष्ठान में ही उनकी सबका समाप्त हो जाती है अष्टम अध्याय में भी एक ऐसे श्लोक है अव्यक्ता व्यक्त सर्वा प्रभवंती हराग में रात्र गमे प्रलियंते तत्र अव्यक्त संगति ये अव्यक्त से आते हैं सभी मानी उत्पत्ति के पहले अव्यक्त है आकृति रहित है सब कोई आकृति और बीच में दिखाई पड़ते हैं और आगे फिर अव्यक्त में लीन हो जाते हैं अष्टम अध्याय में कहा तो टीका में देखें यदि जागृत दृश्या भाव मिथ्यात्म प्रसिद्ध स्वप्नादि भी समत्वा मिथ्या कथम तरी तेषाम घटासन पटासन पटा यदि अमृषात्व प्रतीत इतिहास एक शंका है कि यदि जागृत के पदार्थ जितने भी हैं जागृत में दिखाई पड़ने वाले पदार्थ शरीर आदि जो भी हैं सब पदार्थ जितने भी हैं मिथ्यात्व प्रसिद्ध स्वप्नादि मिथ्या रूप से प्रसिद्ध जो स्वप्नादि को मिथ्या मानते हैं सब कोई उसको सत्य नहीं मानता कोई मिथ्यात्व प्रसिद्ध स्वप्नादि मिथ्या रूप से प्रसिद्ध जो स्वप्नादि है उनके समान यदि है समान समत्वाद ये जागृत के भी ऐसे समान होने से मिथ्या यदि मिथ्या है स्वप्न तो के वस्तु के समान है और ये यदि मिथ्या है तो फिर कथम फिर उस स्थिति में कथम तरी शाम घटासन पटासन अस्तित्व व्यवहार कैसे होता है इसका यदि मिथ्या है तो घटो अस्थि पटो अस्थि मठो अस्थि इत्यादि बोलते हैं जागृत के पदार्थों में अस्तित्व कैसे आता है यदि मिथ्या हो तो यही शंका है इति अमृषात्व प्रकृति अमृषा रूप से सत्यत्व रूप से प्रकृति कैसे हो रही है अगर झूठा है तो सत्यत्व रूप से कैसे प्रतीति हो रही है ये शंका अनुभव कहा वितथ ही सदृशा संत अविथा इव है तो रज्जु सर्पादि के समान कल्पित वस्तु के समान ही है प्रातिभाषिक सत्ता वाले के समान ही है किंतु फिर भी जब तक विवेक नहीं होता अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा जहां ये इसकी कल्पना जहां हो रही है तब तक वास्तविक जैसा दिखाई पड़ते हैं ये ठीक है प्रकृत जागरण मिथ्यात्व पर तुम सुलभ होने सके प्रकरण है जागृत को मिथ्या सिद्ध करना प्रकृति जागरण मिथ्यात्व प्रकृति प्रकरण है जागृत को मिथ्या घोषित करना ये जागृत के विषय में सत्यत्व बुद्धि होकर के परेशान है सारे शरीर आदि में सत्यत्व बुद्धि है इसी से परेशान है इसी को मिथ्या करना है घोषित करना है प्रकरण वही है प्रकृति जागरण मिथ्यात्व जागरण मिथ्यात्व प्रकृति जागृत के मिथ्यात्व घोषित करने प्रकरण चल रहा है इसमें हेतुअंतर परत्वम श्लोक श्री अन्य हेतु एक हेतु तो पहले दे चुके हैं दृश्यत्व हेतु उसके द्वारा जागृत को मिथ्या घोषित किया है जागृत विषया मिथ्या दृश्यत्व स्वप्न दृश्यवत अनुमान दे चुके हैं दूसरा हेतु देना चाहते हैं क्यों जागृत विषया मिथ्या तस्मात आद्यंत आद्यंत बत्वा भावा आद्यंत बत्वा आदि अंत वाले हैं यही हेतु दे रहे हैं अच्छा प्रकृति दो नंबर के मैंने कहा आरंभ प्रतिपादन जिसका आरंभ किया उसको प्रतिपादन करना है माने जागृत को मिथ्या घोषित करना है इसके लिए अन्य हेतु भी है एक हेतु दृश्यत्व हेतु दे चुके हैं अभी आद्यंतवत्व हेतु देते हैं जो उत्पत्ति वाला है नाश वाला है इसलिए मिथ्या है ये कहना चाह रहे हैं अच्छा इतश्च इसको कहा इतश्च भाष्य में कहा इतश्च वैतथ्यम जागृत दृश्याणाम भेदानाम इस हेतु से भी अस्माद अभिकारणात इतश्च अस्माद अभिकारणात इस कारण से भी इस हेतु से भी जागृत दृश्याणाम भेदानाम वैतथ्यम जागृत के दृश्य जितने भी भेद हैं विषय हैं जितने भी हैं शरीर आदि जो भी हैं सबके सब झूठे हैं मिथ्या है वैतथ्यम क्या है क्यों क्या है आद्यंत्य और अभाव यही है पूरा के दृश्य जितने भी हैं सब झूठे हैं क्यों आदि में नहीं है अंत में भी नहीं है उसके अपने उत्पत्ति के पहले कोई होता नहीं है सत्य वस्तु वेदांत में एक ही है त्रिकालाबाधित्व सत्यत्व कभी भी जिसका बाद न हो वही सत्य होता है उत्पत्ति के पहले इसका बाद है ये नहीं है और नष्ट होगा उस काल में भी इसका बाद होगा जागृत के दृश्य जितने भी हैं उत्पत्ति से पूर्व अवस्था में भी बाध है और माने ध्वंस के पश्चात भी बाध हो जाता है इसलिए इसको सत्य कह नहीं सकते मिथ्या है यही कहना है इतस्य वैतथ्यम जागृत दृश्याना वेदानाम जागृत दृश्य पदार्थों का इस हेतु से भी वैतथ्य है मिथ्यात्व है उसमें क्या है आद्यंत और अभाव आदि में भी नहीं अंत में भी नहीं उत्पत्ति के पहले भी नहीं नाश के बाद भी नहीं रहे इस हेतु से भी ये तर्क से भी ये वैतथ्य है मिथ्यात्व है इसमें कहा यद आदव अंत्य जनाती जो वस्तु आदि में न हो अंत में भी न हो जो वस्तु ऐसा हो माने उत्पत्ति के पहले भी न हो और उत्पत्ति नाश के बाद भी न हो ये शरीर आदि सब ऐसे ही है ऐसे वस्तु नास्ती यद वस्तु यद आदो अंत्य नास्ती वस्तु जो वस्तु आदि में भी न हो अंत में भी न हो ऐसे वस्तु जो होगा मृग तृष्ठाति कौन वस्तु है मृग तृष्णा आदि मरुभूमि में जो जल बुद्धि होती है वो पहले भी नहीं बाद में भी नहीं वर्तमान में दिखाई पड़ रही रेत समझता है हमारी बुद्धि हो गई जल बुद्धि वैसे यहाँ सच्चिदानंद आत्मा है सब कल्पना का अधिष्ठान सच्चिदानंद आत्मा है उसमें शरीर रूप में दिख रहा है वृक्षादि रूप में दिख रहा है तत्पर्वतादि रूप में दिख रहा है यही है एक यद आदव अंत्य से नास्ती वस्तु जो वस्तु आदि में भी ना हो यद वस्तु आदव अंत्य नास्ती आदि में भी नहीं अंत में भी नहीं मृग तृष्ट का आदि जो मृग तृष्ट का मरुभूमि में जल भाषण आदि जो होता है रज्जु में सर्प दिखना होता है सुक्ति में चांदी दिखना होता है इत्यादि वस्तु तब मध्य भी नास्ती तद वस्तु मध्य भी नास्ती वो बीच में जब देख रहा है उस काल में भी नहीं है जब निषेध होगा तो उसका भी निषेध होगा उस काल का भी निषेध होता है वो भी नहीं मध्य निश्चित निश्चितम लोग है ऐसा निश्चय किया है लोगों लोग में निश्चय हो जाता है माना प्रातिभाषिक सत्ता वाले को तो मिथ्या घोषित सभी करते हैं मरुभूमि को जल को सत्य कोई नहीं बोलता प्रतीति काल में है ये थोड़ा सा गड़बड़ है व्यावहारिक सत्ता में पड़ा हुआ है इसलिए इसको सत्य तो बुद्धि करके बैठे रहना सब यही है और कोई ज्यादा फर्क नहीं तो प्रातिभाषिक सत्ता वाला है या व्यावहारिक सत्ता वाला है किंतु आदि में वो भी नहीं है ये भी नहीं है अंत में वो भी नहीं ये भी नहीं बराबर है ये तो बराबर है ठीक है अच्छा, तथा इन्हें जागृत दृश्य भेदा उसी प्रकार है यह जागृत दृश्य भेद भी वही मरुमरीचे का समान ही है आदि में भी नहीं है अंत में भी नहीं है इसलिए यह भी मिथ्या ही है जैसे वो मिथ्या है वैसे भी मिथ्या है झूठा है तो अभाव क्यों मिथ्या है ये आदि बने अंत में जैसा वो है वैसे ही है जैसे मरुभूमि में जल दिखना पहले नहीं मरुभूमि दिखना था बाद में मरुभूमि दिखना है उसी प्रकार है यहाँ आद्यंतर अभावात वितथैव मृग तृष्णिकादि भी तृष्णिकादि भी सदृशत्वाद वितथा एवं वितथई सदृशासन तकान झूठे वस्तु के समान होने से क्योंकि जो हेतु वहां बैठा वो हेतु यहां भी बैठा हुआ है अर्जंतवत्व तो हेतु मरुमरीचय आदि में है तो ये जागृत के विषय में भी है शरीर आदि में भी आद्यंत अभाव आदि अंत अभाव से वितथ ही देव जो वितथ पदार्थ है प्रसिद्ध है लोग में मरु मरु भूमि आदि में जल भाषण आदि को वितथा बोलते हैं मिथ्या मानते हैं उसके समान ही मृग तृष्ण आदि भी वितथ ही रहेगा जो वितथ पदार्थ होते हैं मृग तृष्ण आदि उनके सदृश होते हुए सदृशत्व वितथा ये ये जागृत के विषय भी वितथा ये मिथ्या ही है उनके समान है ये विचार दृष्टि से देखेंगे उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है आदि में अंत में वो भी नहीं ये भी नहीं तथापि फिर भी है तो झूठा ही है ये तथापि फिर भी अभी तथा इव लक्षणा मूढ़ अनात्म बुद्धि जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये सत्य जैसा दिखता है अनात्मज्ञा को कहा तथा अभी तथा ही सब सत्य जैसा भाषित होता है हाँ, लक्षिका किनको मूढ़ मूढ़ों ने ऐसा देखा है अभिवेक अब अनात्म विधि जो अनात्म व्यक्ता है शरीर आदि बुद्धि वाले हैं उनके दृष्टि में ऐसा है जो इसके कल्पना के अधिष्ठान को जिन्होंने देखा होगा उनके दृष्टि में ये झूठे हैं मरुभूमि के जल तभी झूठा सिद्ध होगा कब जब अधिष्ठान को देखेंगे रेत को देख पाएंगे जब वो दृष्टि बन जाए तो झूठा हो जाएगा ठीक इसी प्रकार इसके भी जो अधिष्ठान है सच्चिदारण आत्मा में कल्पना है सारी तो वो बुद्धि होने पर ही बाधित होगा वो बुद्धि अभी हुई नहीं है माने अनात्मवेत्ताओं के द्वारा सत्यत्व स्थापित कर रखा है इसमें ऐसा कहा ठीक है विमतम मिथ्या आदिमत्वाद अंतवत्वाद स्वप्न आदिवत इत्यर्थ है यही अनुमान के स्वरूप दे रहे हैं विमतम जागृत भावा जो जागृत वस्तु है विमतम जागृत वस्तु जो विवादास्पद है कुछ लोग सत्य मान रहे हैं और हम असत्य रहना चाह रहे हैं इसलिए विवादास्पद है जागृत वस्तु जितने भी हैं मिथ्या ये झूठे हैं मिथ्यात्व सिद्ध करना है क्यों कहा आदिमत्वात तो दो हेतु है आदिमान होने से आदि वाला है उत्पत्ति वाला है और अंत वाला है विनाश वाला है जैसे स्वप्न स्वप्न आदिवत कहा जैसे स्वप्न के वस्तु हाँ, आदि वाला उत्पन्न होता है नष्ट भी हो जाता है वैसे ये भी है अथवा मृग आदि है प्रादिभाषिक सत्ता वाले सब इसके लिए दृष्टांत हो जाएंगे ये कहा उक्ता अनुमान दृढ़ ने व्याप्ति कथे इस अनुमान को दृढ़ करने के लिए दृढ़ करना है मजबूत करना है इसके लिए व्याप्ति का स्वरूप बताते हैं यद आदो अंत्य नास्ती तद मध्य भी कथा इत्यादि कहा ये कहा यदि आदव अंत का नास्ती वस्तु जो वस्तु आदि में भी न हो अंत में भी न हो मृग दृष्ट का आदि जो मरुभूमि के जल आदि है शुरू में भी नहीं अंतिम में भी नहीं बीच में दिखाई वाले तब मध्य भी नास्ती वो बीच में भी नहीं यही सिद्ध होता है वही व्याप्ति है जहां जहां ऐसा आदि अंत का अभाव होगा आदि अंत वाला होगा वो बीच में भी नहीं होता बीच में भी नहीं होता ऐसे वस्तु निश्चित लोग इत्यादि व्याप्ति दिखाया ठीक है यदि आदि आदिमत अंतवच्च तब मिथ्या ये होगा जो आदि वाला अंत वाला होगा वो झूठा होगा जैसे स्वप्न आदि है दृष्टांत है तन मिथ्या यथा मृग दृष्ट आदि जैसे मरुभूमि में जल भाषण आदि आदि वाला है अंत वाला है वो मिथ्या है वैसे ये भी वैसा ही ये जो शरीर आदि है ये भी उत्पन्न होता है आदि वाला हो गया नाश होता है अंत वाला है समान हेतु है इसलिए ये भी मिथ्या ही है कहा व्याप्तिमत साधन से पक्षधर्मता उपन्यास प्रतिज्ञा उपसंहार वचन निगमन सके व्याप्ति वाला जो साधन यत्र यत्र साधन माने हेतु जो हेतु व्याप्ति वाला हो यत्र यत्र हेतु तत्र साध्य दृष्टांत दे चुका हो जिसका जहां हेतु हो वहां साध्य हो दृष्टांत दे चुके हैं जिसका जहां जो जो आदि अंत वाला होगा वो वो मिथ्या होगा कहाँ देखा स्वप्न आदि में देखा दृष्टांत मिल चुका है व्याप्ति वाला हेतु हो गया साध्य का सहचार है इस हेतु में मिथ्यात्व का सहचार बैठा हुआ है आदि अंत वाले हेतु व्याप्ति पता साधन से मान हेतु हो जो व्याप्ति वाला साधन है हेतु है मान पक्ष धर्मता पूरे उसमें है ऐसे पक्ष धर्मता उपन्यास में पक्ष धर्मता दिखाते हैं जैसे वो स्वप्न है वैसा ये जागृत है एक पक्ष धर्मता मान लिंग परामर्श दिखाना है अनुमान के नैयाय के मतलब तृतीय विज्ञान लिंग परामर्श दिखाना है पक्ष धर्मता उपन्यास है ना प्रतिज्ञा प्रसंग आरवचन प्रतिज्ञा क्या यहाँ की गई थी जागृत वस्तु मिथ्या ये प्रतिज्ञा है उसको उपसंहार करते हैं निगमन वाक्य है वो जो प्रतिज्ञा की थी उसके जाकर के पुष्टि करने वाला अंतिम में जैसे पर्वतों वन्यमान यहां से प्रतिज्ञा करते हैं अंतिम में तस्मात तथा आता है उसका अर्थ वन्य व्याप्त धूमवत्वात पर्वतो वन्यमान तस्मात का अर्थ होगा वन्य व्याप्त धूमवत्वात हाँ, तथा पर्वतो वन्यमान यह अनुमिति होनी है ठीक इसी प्रकार यहां भी प्रतिज्ञा का उपसंहार कथन करने वाला निगमन दर्शयती अनुमान के जो पंचम अवय निगमन वाक्य है उसको दिखाते हैं तथा इत्यादि का तथा अभी तथा इमे जागृत दृश्य भेदा कहा जैसे वो स्वप्न के वस्तु है वैसे ये भी है आद्यंत अभाव वितथा एवं दृढ़ पृष्ठकादि भी भी वितथा एवं वास्तव में वितथा है मिथ्या ही है क्यों आदि में नहीं अंत में नहीं है कोई भी वस्तु देखें उसके उत्पत्ति के पहले वो नहीं है और नष्ट के बाद भी नहीं रहेगा नाश के बाद भी नहीं रहेगा कोई भी वस्तु हो चाहे गृह आदि हो शरीर आदि हो वृक्ष आदि हो कोई भी हो उत्पत्ति के पहले भी नहीं है आदि वाला भी नहीं हो अंत वाला भी नहीं अभाव है वो वस्तु मिथ्या होता है कहां देखा है स्वप्न आदि में देखा हुआ है जितने भी प्रातिभाषिक सत्ता की वस्तु हैं उसमें सब देखे गए हैं वो आदि वाले अंत वाले हैं और कैसे हैं वो मिथ्या है ठीक इस प्रकार ये भी वैसा ही है ठीक है अनुमान से घटादिशु सत्वग्राहक प्रत्यक्ष विरोधम आशंक्य सद नगर विधिवत तस्या आपातिक सत्व विषय पर अनुमान में बाध दोष है पूर्वादि कहना चाहता है यह अनुमान क्यों जागृत भावा मिथ्या भत्वा भी अनुमान है इसमें एक बाल दोष आ रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है क्या है अनुमान से जो अनुमान दिया जा रहा है इसमें इसका घटादिशु सत्व ग्राहक प्रत्यक्ष विरोध घटादि घटो अस्थि पटो अस्थि ऐसा बोलते हैं अस्तित्व का ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण बैठा हुआ है बाद यत्वाभास किसको बनाया जाता है यश्य पक्षे साध्याभाव निश्चित स्वभाव बाधित वो हेतु को बाधित बोलते हैं जिस हेतु के साध्य का अभाव पक्ष में प्रमाणांतर से निश्चित हो अन्य अन्य प्रमाण से अनुमान से सिद्ध कर रहे थे प्रत्यक्ष प्रमाण आदि विरोध कर रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण क्या बोल रहा है घटो अस्थि पटो अस्थि तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध है इसलिए ये आद्यंतवत्व हेतु जो होता है वो मिथ्यात्व को सिद्ध नहीं कर सकता ये शंका है अनुमान से घटादिशु सत्व ग्राहक प्रत्यक्ष विरोधम आशंका सत्व का ग्राहक है प्रत्यक्ष वहां घटादि घटो अस्थि पटो अस्थि ऐसा बोलते हैं तो ये विरोध को शंका करके उत्तर देते हैं अरे बाबा सत गंधर्व नगरम बोला जाता है प्रतीति को लेकर के बोला जाता है सत्य होना जरूरत तो है सत शब्द का प्रयोग करने के लिए जब बादल का एक ऐसा आकृति बन जाती है तो उस काल में हम गंधर्व नगर कहते हैं उसको बादल की आकृति गंधर्व नगर कहते हैं माने मकान जैसे दिखाई पड़ते हैं गंधर्व नगर सत गंधर्व नगर हम ऐसा बोला है गंधर्व नगर है ऐसा बोलते हैं वास्तव में है वो बादल है वो नगर नहीं है सदगंधर्व नगरम इतिवत जैसे बोला जाता है ऐसा वाक्य नहीं प्रतिभाषिक सत्ता में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है बोला जाता है तस्य आपातिक सत्व विषयत्व आपातिक प्राकृतिक सत्व है वास्तविक सत्व नहीं है इसलिए या बाद दोष होना संभव नहीं कहा तीन नंबर की टिप्पणी आपातिक प्रातिक प्राकृतिक प्राकृतिक सत्व है उसमें घटादि में जो सत्व है वास्तविक सत्व नहीं है ये कहा तथापि इत्यादि कहा तथापि अभितथा विलक्षिता है अनात्मविद भी जब तक आत्म का ज्ञान नहीं होगा अधिकरण का ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक कल्पित वस्तु को सत्य मानकर चलता है व्यक्ति ठीक है आगे टीका स्वप्न से मिथ्यात्व आद्यंतवत्वात न भवती किंतु अभाव जागृत से फलपर्यंतत्वात न मिथ्यात्व इतिहास पूर्वादी एक दोष और देना चाहता है तो आभास बनाना चाहता है वक्त हेतु को माने ये उपाधि दोष देना चाहता है सोपाधि को हेतु व्याप्यत्व सिद्ध पहले बाल दोष देने की चेष्टा की फेल हो गया अब उपाधि देना चाहता है जो उपाधि वाला हेतु होगा वो व्याप्यत्व सिद्ध बनाता है हेतु आभास बनेगा उससे शादी की सिद्धि नहीं होगी ये पूर्वादी की शंका है स्वप्न से मिथ्यात्व में आद्यत्वत्वाद न होती देखो स्वप्न में जो मिथ्यात्व दिखाई पड़ता है आदि अंत वाले वहीं से नहीं होता पूर्वादि का उत्पन्न होता है नाश होता है इसलिए मिथ्या ये बात नहीं है उसके मिथ्या होने के दूसरे कारण है क्या कारण है किंतु फल पर्यंतत्वाभाव उसके फल नहीं है अर्थ क्रियाकारिता नहीं हो स्वप्न वस्तु में फल नहीं है इसलिए वो मिथ्या है आद्यंतवत्व के कारण नहीं वो है फल पर्यंतवाभाव से होने से ऐसे पूर्वादि ने कहा फल पर्यंतवाभावात जागृत से फल पर्यंतता जागृत अवस्था में जो भी वस्तु है अर्थक्रिया कारिता है उसमें प्यास लगती है पानी पीते हैं प्यास बुझती है त्रिषा बुझ जाती है भूख लगे तो अन्न लेते हैं तो तृप्ति हो जाती है तो उसको कैसे नहीं है मिथ्या कैसे कहेंगे स्वप्न की वस्तु जैसा नहीं है उसमें इसमें भेद है स्वप्न को जो मिथ्या कहा आदि अंत वाला होने से मिथ्या कहा यह बात नहीं उसके है अर्थ क्रिया का अभाव है इसलिए मिथ्या कहा किंतु जागृत में अर्थ क्रिया है फल पर्यंतत्व है ये कहना चाहता फल पर्यंत माने चार की टिप्पणी फलम पर्यंत अव्यवहित उत्तर काल ऐसे फल है अव्यवहित उत्तर में इसका भोजन करते हैं तो ठीक उत्तर क्षण में तृप्ति मिलती है फल है इसका वहां फल नहीं है स्वप्न में फल नहीं है ये पूर्वाधिक का कहना इसलिए वो स्वप्न के वस्तु मिथ्या है फल पर्यतत्व तो नहीं हो किंतु यहां फल पर्यंत है अर्थ क्रियाकारी का है इसलिए इसको मिथ्या कहना बनता नहीं ये कहा पूर्वाज न मिथ्यात्म इतिहासन का यह फल पर्यंत होने से मिथ्या नहीं है यह सत्य है जागृति की वस्तु यह शंका है गुरुवार की होने पर कारिका में कहते हैं सप्रयोजनता तेषा स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादाद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादाद्यंत मिथ्य फल फलुते स्मृता सिद्धांत कहते हैं उपाधि नहीं हो सके क्योंकि पूर्वादि इसको उपाधि बनाना चाहता है फल परिण तत्व को माने फल काल तक है ऐसा बोलना चाहता है वो नहीं होगा जहां जहां साध्य होगा वहां वहां जो उपाधि बनाई जाए वो हो और जहां जहां हेतु हो वहां न हो उसको उपाधि कहते हैं किंतु ये ये उपाधि जो बनाना चाहता है पूर्वाधि उसको सिद्धांति हेतु का भी व्यापक बनाएगा साहित्य का व्यापक हेतु का भी व्यापक यत्र यत्र मिथ्यात्व तत्र तत्र फल पर्यंत अभाव फल पर्यंत तो अभाव होगा ठीक है किंतु यत्र यत्र आद्यंतवत्व तत्र तथा भी फल पर्यंत तो अभाव ही आएगा ये सिद्धांति सिद्ध करना चाहते हैं क्यों जागृत में फल पर्यंतत्व का नहीं है सिद्धांति बोलते हैं पूर्वादि ने कहा था फल पर्यंत है यहाँ कहते नहीं है अब भी पहले क्षण में जागृत अवस्था में था खा पी करके सो गया दूसरे क्षण में निद्रा में पहुंच गया वहां अपने को भूखा अनुभव करता है तीन दिन का भूखा अनुभव करता है तो फल तक कहाँ है उसकी जागृत वस्तु में सायकाल जब खाता है खाने के बाद सो जाता है तो पेट भरा हुआ किंतु वहां अनुभव कैसा होता है भूखे का कहा है तृप्ति है वहां सब प्रयोजनता तेसाम तेसाम जागृत भावानाम जो जागृत के विषय हैं उनके जो सब प्रयोजनता तुमने कहा फल पर्यंत तो कहा वहां स्वप्ने विप्रतिपत्ति थे स्वप्न अवस्था में विरोध हो जाता है विपरीत हो जाता है या खा पी करके गया हुआ व्यक्ति वहां भूखा पाता है स्वप्न ये स्थिति हो जाती है तस्माद आद्यंतवत्व इसके हेतु वही है आद्यंतवत्व ही हेतु है आद्यंतवत्व होने है मिथ्य व फल के स्मृता के जागृत भावा जागृत के पदार्थ जितने भी हैं मिथ्या ही स्मरण किया है वेदांतियों ने उसको झूठा ही सिद्ध किया है स्मरण किया है ये ठीक है फल पर्यंत राहित्य उपाधे साधन व्यापक फलित महान जो फल पर्यंत तो राहित्य कहा था स्वप्न के विषय में फल पर्यंतता नहीं अर्थक्रियाकारिता नहीं है और जागृत वाले में अर्थक्रियाकारिता है ये बोलना चाह रहा था जागृत के विषय में भी अर्थकारिता नहीं है कहाँ देखा है खा पी के सोया हुआ व्यक्ति को अपने को भूखा अनुभव होता है ऐसी स्थिति वहां भी अर्थक्रियाकारिता नहीं है प्राकृतिक है और प्रातिभाषिक हो तो वहां भी अर्थक्रियाकारिता दिखाई पड़ी स्वप्न में भी वहां के जो भोग लगे और वहां के विषय से तृप्ति हो जाती है समान है वहां भूख लगती है तो वहीं के उसी काल वाला चाहिए व्यवहारिक वस्तु काम नहीं आएंगे स्वाप्निक वस्तु ही काम करेंगे तो फल पर्यंता राहित्य उपाधे फल पर्यंतता राहित्य जो कहा था उपाधि देना चाहता था पूर्वाधि उसमें साधन व्यापक फलिता साधन का भी व्यापक है वो हेतु का व्यापक यत्र यत्र दृश्यत्व आद्यंतवत्व तत्र तर फलपंचता रहितत्व जागृत में भी देखा है मैंने जब खा करके सो जाता है व्यक्ति यहां खा के तृप्त होकर गया था वहां पर अतृप्त मानता अपने को फलपरिता कहा रहा अभाव है बराबर है एक तस्माद इत्यादि का तस्माद आद्यंतवत्व न मिथ्या फल के स्थित इसलिए आद्यंतवत्व हेतु के कारण ते माने जागृत भाव जागृत विषय मिथ्या मिथ्या ही स्मरण किया है मनुष्य जागृत दृष्टिया भाव बहुक्त्या ते शब्द आया है बहुक्ति माने बहुवचन का कथन कहा है ते तो क्या लेना है उसने कहा जागृत दृश्य भाव जागृत में दिखाई पड़ने वाले जो विषय हैं उनको ते शब्द से पकड़ना है कहा कार्यकाल जो ते है ये बहुवचन से कहा गृहित होते हैं क्या बहुवचन ते शब्द है सतौते उस ते से जागृत विषय पकड़े जाते हैं ये कहा जागृत दृश्याभावा बहु क्या गृहते बहुवचन बहु उक्ति बहुवचन बहुवचन ते शब्द है उसके द्वारा गृहित करते हैं पांच की टिप्पणी बहुक्या बन ते अनाय अनायत्यर्थ ते शब्द है उसके द्वारा ये गृहित होगा ठीक है श्लोक से व्यावर्त्याम उपाधि आशंका हम उत्थापय इस, इस कारिका के द्वारा खंडनीय जो शंका है उपाधि देना चाहता है पूर्वादि कारिका का तात्पर्य क्या है उपाधि का खंडन करना पूर्वादि उपाधि देना चाहता है पूर्व पक्ष उसके खंडन करना यह कारिका का तात्पर्य है मान जागृत के विषयों का सब प्रयोजन आता जो तुम बोलते हो वो स्वप्न में विपरीत हो जाता है खाती के सोया हुआ व्यक्ति वहां भूखा पाता है एक कहना चाहते श्लोक से व्यावर्त्याम उपाधि आशंका इस कारिका के द्वारा जो व्यावर्तनीय आशंका है उपाधि देना चाहता था पूर्वाधि मैंने हेत्वाभाष बनाना चाहता था आद्यंत वक्त को उस शंका को उत्थापन करते हैं पहले पूर्वाधि बोलेगा अपने शब्दों में बोलेगा भाषण पूर्व पक्ष है स्वप्न दृश्यवत जागृत दृश्याराम अपनी असत्वम यदि यदुक्तम तद अयुक्तम पूर्वादि कह रहा है स्वप्न दृश्य के समान स्वप्न जगत के समान जागृत दृश्य को भी असत्य कहना मिथ्या कहना जो कहा ये जो कहा असत्य जो कहा तद अयुक्तम वो ठीक नहीं है उसमें इसमें बड़ा अंतर है उसमें अर्थक्रियाकारिता नहीं है और यहाँ अर्थक्रियाकारिता है पूर्वादि का कहना यही उसमें इसमें अंतर है तो वो जैसा ही है करके कहा होगा ये पूर्वादि का था तद अयुक्तम वो ठीक नहीं क्यों यस्मात जिससे कि भेद है दोनों में यस्मात जागृत दृष्टिया अन्नपान पाहनादय क्षुत पिपाशादि निवृत्ति कुरपन गमनादि कार्य सप्रयोजना दृष्टा जागृत विषय फल पर्यतता दिखा है सब प्रयोजन दिखा प्रयोजन के सहित है क्या देखा है जैसे जागृत दृश्य वस्तु जितने भी हैं अन्नपान वाहनादय माने भोजन करते हैं तो तृप्ति होती है जल पीते हैं तो त्रिषा की ये निवृत्ति हो जाती है और वाहन आदि जो होते हैं आवागमन के काम आते हैं आवागमन करने के काम आते हैं वाहन आदि हमारे जो हो अर्थक्रिया कार्य उनमें भी है तो जागृत दृश्य अभावा जो जागृत दृश्य पदार्थ हैं अन्न पान वाहन आदया आदि से जितने भी हम व्यवहार करते हैं चाहे अन्न खाएं चाहे जल पिए चाहे वाहन आदि होते हैं आवागमन के लिए क्षुत प्रकाशाद निवृत्ति में कुरंत तो भोजन करेंगे तो क्षुदा की निवृत्ति होगी वहां अर्थ क्रियाकारिता है जल पिएंगे तो पिपाशा की वृत्ति होगी और वाहन आदि होंगे तो आपके आवागमन के लिए प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा इत्यादि पूर्वांत तो गमनागमन आदि कार्य और वाहन में गमन और आगमन कार्य भी होगा वाहन है तो उसके साथ सब प्रयोजन दृष्टा प्रयोजन के साथ देखा है अर्थक्रिया कार्य का इसके साथ जागृत के विषय देखा गया अर्थक्रिया कार्य का प्रत्येक में है ये पूर्वादि बोल रहा है न तो स्वप्न दृश्यानाम तद अस्थि स्वप्न में जो दिखाई पड़ते हैं उसमें ये नहीं है अर्थक्रियाकारिता नहीं है ये पूर्वाधिक बोलता है तस्मात स्वप्न दृश्यवत जागृत दृश्यानाम असत्व मनोरथ मात्र इसलिए आपने जो कहा स्वप्न दृश्य के समान जागृत दृश्य भी मिथ्या है कहा ये केवल मनोरथ है आपकी कल्पना मात्र है सिद्ध नहीं हो सकता स्वप्न के समान जागृत है कह देने से थोड़ी होगा यहाँ वहां बड़ा अंतर है यहाँ क्रियाकारिता है वहां नहीं है ये पूर्व पक्ष बोल रहा है तस्मात स्वप्न दृश्यवत जागृत दृश्यानाम असत्व मनोरथ मात्रम इसलिए इसी कारण से कि स्वप्न दृश्य के समान ही जागृत दृश्य भी असत है जैसे स्वप्न दृश्य असत है उसी प्रकार जागृत भी असत कहना मनोरथ मात्रम केवल कल्पना मात्र है आपकी है वास्तु सिद्ध होने वाला नहीं अलग है या अर्थक्रियाकारिता है वहां नहीं है तो वो मिथ्या होने से भी मिथ्या हो गए समता नहीं है ये पूर्वादि की क्षमता है इसके उत्तर में सिद्धांत का तन न ये बात नहीं है या जो अर्थक्रियाकारिता है मानते हो ना देखो जब स्वप्न में जाओगे या खा पी के गया हुआ व्यक्ति का वहां है क्या वहां भूखा मानता अपने को इस ये कहना चाह रहे तम वो बात नहीं तस्मात पूर्वादि बोलता क्यों नहीं क्यों नहीं ऐसा विषमता है तो सिद्धांत के नहीं यस्मात सब प्रयोजनता दृष्टा यह आदि नाम जो जागृत के भोजन पान आदि में जो सब प्रयोजनता देखा अर्थक्रिया का देखी गई है जो क्षुदा निवृत्ति आदि जो देखे दिखाई पड़ा है यह सब प्रयोजनता प्रयोजन सहित जो दिखाई पड़ रहा है जागृत के विषय जो दिखाई पड़ रहा दृष्टा या अन्नपान आदि नाम सा अच्छा स्वप्न विपरीत वो जो अतिक्रिया कार्य का दिखाई पड़े स्वप्न में विपरीत हो जाता है जहां खाया हुआ व्यक्ति वहां भूखा पाता कैसे तो वो दिखाते विपरीत कैसे होता है हाँ, जागृत ही भुगतवा पीतवा तृप्त जागृत अवस्था में खा पी करके तृप्त हुआ था व्यक्ति सायंकाल खा पी के तृप्त हो गया जो व्यक्ति विनिवर्तित तृप्त निवर्तित हो गया विशेष रूप से निवृत्त बी बी दो उपसर्ग हैं विशेष रूप से निवृत्त हो गया त्रिषा जिसकी हाँ, भोग प्यास नहीं आओ ऐसा व्यक्ति है खा पी करके बिस्तर में पड़ गया विनिवृत्त त्रिक सुप्त मात्र सोते ही जब स्वप्न में जाता है ऐसा अनुभव आता है कि मैं भूखा हूं तीन दिन का भूखा हूं ऐसा अनुभव करने लग जाता है कहाँ गया वो अर्थक्रिया कारिता कहां गई तुम्हारी ये सिद्धांत पूछ रहे सुप्त मात्र ज्यादा दूर नहीं सोते ही सोने मात्र से वो क्या दिखता है उसको सुत पिपाशादी आर्तम अहोरात्र उषितम अभुक्तवंतम आत्मान मान्यते सोते सोने मात्र से ऐसी स्थिति में स्वप्न देखने मात्र में ऐसा पहुंच जाता है क्या मैं क्षुद पिपाशादी आत्म क्षुदा पिपाशा से ग्रसित मानता है भूख प्यास से ग्रसित मानता है क्षुत पिपाशादी आत्म क्षुत पिपाशादी धर्मों से युक्त मानता है अपने को पीड़ित मानता है अहोरात्र उषितम अभुक्तम अहोरात्र उषितम अभुक्तम अहोरात्र उपवास हो गया ऐसे समझता है उपवास हो गया माने उपपूर्वक बस धातु से निष्ठा करके उषितम बनाया हुआ है उषितम उप नहीं है उषित माने बस धातु से निष्ठा करके किया है निष्ठा निष्ठा प्रत्यय है यद्यपि बस धातु अनिट है शांतेशु घस बसती दो तो धातु अनित होते हैं तंत्र सकारांत में किंतु बसती सिदो रीत ऐसा एक सूत्र है बस धातु और शुद्ध धातु को ईट होता है निष्ठा उसके पर निष्ठा को ईट होता है तो उसी तरह देखो बस धातु होता है आगे निष्ठा प्रत्येक होता है ईट हो गया है किंतु बस को यहां पर संप्रसारण हो रखा है बची सो की यज्ञाधिराम किटी ये सब संप्रसारण हो रखा है उसी है ये कहा कि जो जागृत ही भुगतवा पीतवा तृप्तो तृप्त जो जागृत अवस्था में खा पी करके निवृत्त हो गए तृष्णा जिसके खाने की इच्छा नहीं पीने की इच्छा नहीं सब व्यक्ति सुप्त मात्र जब सोया हुआ ही है अभी उसी स्थिति में ही क्षुद्र पाशादि आतम भूख प्यास से पीड़ित समझता है अपने को अहोरात्र उषितम उपवास हो गया अहोरात्र चौबीस घंटे का उपवास किया हुआ मानता है अपने को ऐसी स्थिति मानता है अभुक्तवंतम खाया ही नहीं मैंने ऐसा मानता है अपने को भूखा हूं अभुक्तवंतम आत्मान थे अपने को ऐसा मानता है तो क्या वो अर्थ क्रिया कार्यता कहाँ गई तुम्हारी सब प्रयोजनता कहां गई इसलिए कहा सब प्रयोजनता तेषाम स्वप्न विद्युत कार्यकर्ता तो जागरूक विषयों का सब सब प्रयोजनता है वो स्वप्न में विपरीत हो जाता है यहां खाया हुआ व्यक्ति वहां भूखा पाता है और प्रादिभाषिक सत्ता को लेकर के मानना है तो स्वप्न में भी अर्थक्रिया कार्य कार्यता है उस काल में वहां भी है जब वहां पर प्यास लगे वहीं का पानी पिएगा तो तृप्ति होती कि नहीं होती है होती है वहीं का पानी चाहिए ये पानी काम नहीं करेगा क्यों तो सम सत्ता में व्यवहार होगा विषम सत्ता में व्यवहार नहीं होगा स्वप्न के लिए स्वप्न के काम आएंगे वस्तु जागृत के लिए जागृत वस्तु ही काम आएंगे यहां का वहां काम नहीं आता वहां का यहां काम नहीं आता समसत्ता में व्यवहार होगा अगर प्रादिभाषिक सत्ता में चलते हैं तो प्रादिभाषिक में दोनों को लेना होगा और व्यावहारिक सत्ता में चलते हैं तो दोनों को व्यावहारिक सत्ता में लेना होगा एक को प्रातिभाषिक बनाना एक को व्यावहारिक बनाना ये नहीं चलेगा समझ सत्ता में व्यवहार होगा ये कहा अच्छा मान्य एक नंबर की टिप्पणी में कहा क्षुर आदि में कहा क्षुर इत्यादि क्षुत पिपाशा आदि आतत्व न अहोरात्र उसी विद्यावत ये जो क्षुत पिपास आदि आर्तम का अर्थ क्षुत पिपास आदि आर्तम भूख प्यास से ग्रसित होने के कारण अहोरात्र उपवास जैसा मानता अपने को एक आगे भाष्य में कहते हैं यथा स्वप्ने भूखवा पीतवा से अतृप्त उत्थित तथा जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति ऐसा खाया पिया हुआ होता है एकादशी के दिन से खाया कुछ भी नहीं था किंतु वहां पर खूब खाता है स्वप्न ऐसा दिखाई पड़ता अनुभव होता है ऐसा स्वप्ने यथा स्वप्ने भुगतवा पीतवा चल अतृप्त उठता भोग खा पी करके उठा हुआ व्यक्ति अतृप्त मानता अपने को स्वप्न में अभी भी खा रहा था पी रहा था भोजन कर रहा था जगा पेट भीतर गया हुआ है ऐसा समझता है ऐसा मानता है यहाँ जागरूक में आते ही अपने को भूखा समझता है कि एकादश के दिन थी एकादश के दिन है भूखा सोया हुआ था वहां पर खूब खा रहा भंडारा खा रहा ऐसा दिख रहा था ऐसा अनुभव कर रहा था जगह अतृप्त समझता हूं यथा स्वप्न जैसे स्वप्न में भुगतवा पीतवा पीतवा अतृप्त उत्था उठा हुआ अतृप्त समझता है तथा वैसे जागृत में भी है यहाँ खा पी के जाता है वहां अपने को अतृप्त समझता है स्वप्न बराबर है जैसे स्वप्न में खाया पिया हुआ व्यक्ति जागृत में अपने को अतृप्त मानता है उसी प्रकार जागृत में खाया पिया हुआ व्यक्ति स्वप्न में अतृप्त मानता है बराबर है यह नहीं कि वहां अर्थक्रियाकारिता है यहां नहीं है ये नहीं होता जागृत में आपकी क्रिया सब अच्छा प्रयोजन का है और स्वप्न में नहीं ये बात नहीं ये सिद्धांत है तस्मात जागृत दृष्टिया नाम स्वप्न प्रतिपत्ति दृष्टा इसलिए जागृत दृष्टियों का स्वप्न में विप्रतिपत्ति दृष्टा विरोध देखा गया विपरीत देखा गया न खाया पिया हुआ वहां भूखा पाता आपने विप्रतिपत्ति दृष्टा विप्रतिपत्ति विरोध दिखाई दिया अतो मनिया भाई इसलिए हम मानते हैं वेदांति अतो वयम वेदांति न मन्यामय हम लोग मानते हैं इस बात को तेषाम अभी असत्वम तेषाम असत्वम अपी का अर्थ एवं असत्वम एवं जागृत भावानम तेषाम जागृत भावानम असत्वम एवं मानी मिथ्या ही है जागृत के विषय सत्य नहीं है हम ऐसा मानते हैं दो नंबर टिप्पणी में कहा अपी का अर्थ अवधारण एवकार समझना और असत्व के आगे जोड़ना उसको बोला है असत्वम एवं ऐसा हो जाएगा तेसाम मैंने जागृत भावान असत्वम मिथ्या ही है वो मिथ्यात्व ही रहेगा उसमें स्वप्न दृश्यवध अनासंगनीयम स्वप्न दृश्य के समान ही है ये जैसे वो असत है उसी प्रकार ये भी असत है इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए पूर्ववादी को शंका नहीं उठानी चाहिए इस विषय में इस सिद्धांत अनाशंकनीय कोई शंका नहीं करनी चाहिए कि भिन्न होगा करके जैसे वो असत है ये भी असत ही है मिथ्या ही है तस्मात आद्यंतवत्व वहित्र समान इसलिए आद्यंतवत्व धर्म हेतु दोनों में समान है स्वप्न के वस्तु भी उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं दिखाई पड़ता है आद्यंतवत्व है जागृत में भी ऐसे उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं आद्यंतवत्व हेतु समान है तस्मात आद्यंतवत्व वहित्र समान जागृत हो चाहे स्वप्न दोनों अवस्थाओं में आद्यंतवत्व हेतु समान है इति मिथ्य फलुतेश इसलिए जब हेतु समान है वहां साध्य है दृष्टांत में साध्य भी है साध्य हेतु दोनों के दोनों दृष्टांत में स्वप्न में देखा माने आद्यंतवत्व भी बैठा है और मिथ्यात्व भी बैठा है और पक्ष जो जागृत में भी आद्यंतवत्व बैठा है तो जरूर साध्य होगा यही है अनुमान के उपाय यही है अगर दृष्टांत में साध्य हेतु दोनों मौजूद मिले और पक्ष में हेतु हो तो साध्य जरूर होता है पर्वतों का निमान जो बोलते हैं तो इसमें क्या होता है दृष्टांत महानस है वहां पर ये धूम और अग्नि दोनों है और पक्ष में पर्वत में धूम है जरूर साध्य है निश्चित है कोई हेतु बैठा हुआ है पक्ष में इसलिए जागृत में मिथ्या ही है कहा एक ऐसे स्मरण किया है तस्मात तीन नंबर की टिप्पणी तस्मात द्वयोरूपी हेतु स्वपादिकत्व अभाव दोनों हेतु आदिवत आदिवत्व हेतु अंतवत्व हेतु दो हेतु हैं स्वपाधिक नहीं हो सकता अर्थ क्रिया लेकर के सब प्रजनता आदि बता के स्वपाधिक नहीं बना सकते हैं दोनों हेतु में चाहे आदिमत्व हो चाहे अंधवत्व हो दोनों हेतु में सोपाधिकत्व अभाव सोपाधिक नहीं हो सकता यानी हेत्वाभाष नहीं है सब हेतु है ये सिद्धांत होता मिथ्यात्व की सिद्धि ये बताया ठीक है मैं आगे पूर्वादि बोलता है महाराज ये जो साध्य है मिथ्यात्व स्वप्न में मिथ्यात्व नहीं है हाँ, सब स्वप्न एक जैसे नहीं होते हैं जबकि सत्य स्वप्न भी होता है सारे स्वप्न मिथ्या नहीं होते जो पूर्वादि का कहना है दृष्टांत में साध्य का अभाव दिखाना चाहता है मिथ्यात्व का अभाव दृष्टांत क्या दिया जा रहा है स्वप्नों को बनाया जा रहा है तो दृष्टांत में साध्य का विकल्प अभाव दिखाना चाहता है पूर्वादि दोष देना चाहता है माने असिद्ध दोष लग जाएगा दृष्टांत में जो साध्य नहीं तो पक्ष में साध्य कहां से होगा दृष्टांता सिद्धि दोष ये भी दोष है इससे साध्य की सिद्धि नहीं कर पाएंगे यही पूर्वादि का अनुमान देना चाहता है दृष्टांत से साध्य विकल्पम संदिग्ध परिहर अच्छा ठीक है रह अच्छा, ठीक है जागृत दृश्याम स्वप्न दृश्याम तुल्यम सप्रयोजनत्व तो उपाधि असंभव असंभव आशंका माने है कहेंगे भाई उपाधि हो नहीं सकती है सिद्धांत की ओर से टीका है ये जागृत दृश्यानाम जैसे जागृत दृश्य है उसी प्रकार स्वप्न दृश्यानाम भी तुल्यम सप्रयोजन वहां भी सप्रयोजनता है वहां भी खाता पीता है तो प्यास निवृत्ति हो जाती है यहां भी है सप्रयोजनता क्यों नहीं वहां पूर्वाजी ने कहा कि वहां है यहां नहीं है तो सिद्धांत कहते हैं वहां भी तो है ना जब स्वप्न में भूख लगे तो वही जो खाता है तृप्त हो जाता है उपाधि नहीं हो सकती ये सिद्धांत कह रहे हैं जागृत दृश्यानाम जैसे जागृत दृश्य में सब प्रयोजनता है उसी प्रकार स्वप्न दृश्यानाम तुल्यम सब प्रयोजनत्म सब प्रयोजनता वहां भी है वहां भूख लगे तो वहीं का अन्न से तृप्त हो जाता है यदि उपाधि असंभवम इससे सब प्रयोजन तो उपाधि नहीं हो सकती ये शंका की सिद्धांति है असंख्य सिद्धांति की शंका है उससे पूर्वादि बोलता है क्या बोलता है पूर्वादि न तो कहा न तो स्वप्न दृश्यानाम अस्थित स्वप्न दृश्यों में वो नहीं है क्या नहीं है सब प्रयोजनता नहीं है केवल जागृत दृश्य में है ये पूर्वादि का कहा स्वप्न के दृश्य में वस्तु में नहीं है न तो स्वप्न दृश्यान तदस्थी एक ठीक है अनुमान से स्वपाधिकत्व न असाधकत्व फलित महा अनुमान जो मानी हेतु हेतु को अनुमान कहते हैं अनुमिदे अनुमीयते अन्य अनुमानम हेतु हेतु को अनुमान बोलते हैं हेतु से सिद्ध किया जाता है इसलिए अनुमान शब्द का अर्थ हेतु अनुमान है सोपाधिकत्व अनुमान माने हेतु और सोपाधिकत्व हेतु सोपाधिक है ये हेतु जो है आद्यंतवत्त हेतु सोपाधिक है एक जगह सब प्रयोजनता है एक जगह नहीं है साध्य व्यापक साधन का व्यापक बनाना चाहता है अनुमान से ने असाधकत्व साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता असाधक है वो अनुमान हेतु आपका असाधक है साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता मिथ्यात्व की सिद्धि नहीं कर सकता जागृत अवस्था में इस पूर्वादि ने कहा फलितम आह निष्पन्न क्या हुआ तो पूर्वादि का था तस्मात कहा पूर्वादि का शब्द है तस्मात स्वप्न दृश्यवत जागृत दृश्यानाम असत्व मनोरथना स्वप्न दृश्य के समान जागृत दृश्य भी असत है कहना केवल कल्पना मात्र है दोनों में भेद है ये पूर्वादि ने कहा आगे सिद्धांत का तमना ये बात नहीं है दोनों में कोई फर्क नहीं है सिद्धांत ये बोलते हैं ठीक है हेतु सोपाधिकत्व दूसरे थी पूर्वादि ने हेतु को सोपाधिक बनाने की कोशिश किया है उसमें दोष देते हैं सिद्धांत हेतु सोपाधिक ने सदहेतु आई या सदहेतु ने व्याप्यत्व सिद्ध तो नहीं बना सकते एक तम न इत्यादि शब्द से कहा वो हो नहीं सकता सिद्धांत क्यों साधन व्याप्त्यादि दोषाधते नोपाधि निरसन सुष्टम इत्या पूर्वादि बोलता है महाराज साधना व्याप्यवादि उपाधि में दोष देना हो दोष का अभाव करना हो तो दोष का अभाव करने के लिए साधन का भी व्यापक बनाना पड़ेगा उसके कहे बिना दिखाए बिना साध्य का व्यापक हो साधन का भी व्यापक हो तब उपाधि नहीं बन पाएगी वो दिखाए बिना खाली कहने मात्र से वो उपाधि नहीं है कहने मात्र से उपाधि नहीं उपाधि होती है साधन व्याप्ति आदि साधन हेतु साधन की व्याप्ति आदि माने व्यापकता आदि दोष दोषादित्य ऐसा दोष देना पड़ेगा जब हमने उपाधि दिया था आपको दोष देना पड़ेगा हमारे उपाधि को दूषित करने के लिए क्या देना पड़ेगा साधन का भी व्यापक बनाना पड़ेगा तभी दुष्ट हो जाएगा वो उपाधि निरसनम सुसकम उपाधि का खंडन करना संभव नहीं ये पूर्वाधि ने कहा तस्मात करके पूछा क्यों नहीं है उपाधि क्यों नहीं बनेगी वो सब प्रयोजनता तो सिद्धांत कहते हैं उसका उत्तर देते हैं ठीक है कहते हैं फल पर्यंतता विरहित उपाधे साधन व्याप्ति न जो फल पर्यंतता का अभाव कहा था स्वप्न में उसमें साधन की भी व्यापकता दिखाते हैं सिद्धांत तो साध्य का व्यापक है तो साधन का भी व्यापक है दोनों का मानी यत्र मिथ्यात्व तत्र फल परिणता अभाव और यत्र हेतु आद्यंतवत्व तत्र भी मिथ्यत्वाभाव ये फल अभाव ऐसा मिलेगा ये बोलते हैं यस्मात इत्यादि कहा कैसे देखा जहां पर मिथ्यात्व होगा वहां पर फल परिणत का तो अभाव रहेगा ही स्वप्न आदि में देखा ही है दृष्टांत में देखा है और पक्ष में जागृत में भी ये दिखाई पड़ेगा हेतु जब देखेंगे जहां जहां ये है हेतु है माने आद्यंतवत्व हेतु है वहां वहां भी फल परिणत का तो अभाव है क्यों जागृत में भी अर्थ क्रियाकारिता नहीं है कहा देखा है जो खा पी के सोया हुआ व्यक्ति में दूसरा दिखाई पड़ता है अतृप्त मानता है अपने को सारा जागर में फल पर्यंत तत्व तो नहीं अभाव है हेतु हेतु का भी व्यापक है यस्मात इत्यादि शब्द कहा यस्मात सप्रयोजन दृष्टा जो प्रयोजनता देखी गई जागृत के विषय में या क्या देखा या अन्नपानादि राम जो अन्नपानादि में सप्रयोजनता प्रयोजनता देखे गए हैं सास स्वप्न विपरीत स्वप्न में विपरीत हो जाता है खा पी के सोया था भूखा मानता है अपने को विपरीत हो जाता है ताम एवं विपरीत बुद्धि में वही विरोध जो है ना विपरीत बुद्धि उस विपरीत को ही स्पष्टीकरण करते हैं ताम एवं विपरीत गति प्रकट होती है विपरीत गति को ही प्रकट करते हैं क्या करते हैं जागृत ही इत्यादि भाषण में कहा जागृत ही भूतवा पीतवा से तृप्त विनिवर्तित तृप्त जागृत अवस्था में खा पी करके तृप्त हुआ व्यक्ति है विशेष रूप से निवृत्त हो गई तृष्णा जिसके खाने पीने की तृष्णा नहीं है ऐसा जो व्यक्ति है जागृत सुप्त मात्र एवं जैसा सोया वैसे ही बस सोते ही स्वप्न देखने लगा अपने को भूखा अनुभव करता है कहां से अप्रयोजनता है उस जागृत के विषय ये कहा सुप्त मात्र एवं क्षुत उपासायातम क्षुत उपासादि से गृहित ग्रहित मानता गृहित मानता है ग्रसित मानता है अहोरात्र उषितम चौबीस घंटे का उपवास समझता है अपने को और अभुक्तवंतम आत्मान मनते अपना भूखा मानता है अपने को ठीक है उत्तम अर्थम दृष्टांत ने प्रश्न इसको जो बताया है दृष्टांत देकर के प्रश्न करते यथा इत्यादि कहा यथा स्वप्ने भूतवा पीतवा अतृप्त उठित तथा जैसे स्वप्न में खा पी करके उठा हुआ व्यक्ति है यहाँ अतृप्त मानता अपने को स्वप्न में खा खा पी रहा था उठते ही भूखा मानता वैसे यहाँ खा पी के जाता वहां भूखा मानता है तो क्या समाता नहीं है दोनों बराबर है ठीक यथा इत्यादि का इसी को यथा स्वप्न भूत उत्थित तथा तथा जागृत भी जागृत में वैसे ही है खा पी के जाता है वहां पर अतृप्त समझता अपने को वहां खा पी के आता है यहाँ अतृप्त समझता अपने को तो सब प्रयोजन का भी नहीं है उपाधि साधन व्याप्तियों में गति उपाधि में साधन का भी व्याप्ति है व्यापकता है एक जहां जहां हेतु है मत हेतु जागृत में वहां भी उपाधि बैठी हुई है जिसको उपाधि बनाना चाहते हो बैठी उपाधि बनने पा रही हो फल परिणतों तक अभाव है यही उपाधि जिसको पूर्व पक्ष उपाधि बनाना चाहता था उसमें साधन की भी व्यापकता है होना चाहिए था साध्य का व्यापक साधन का व्यापक होना था किंतु वो हो नहीं पाता इसलिए उसको उपाधि करके दोष नहीं कह सकते सदहेतु है अत्यंत वत्व हेतु सदहेतु है सोपाधि नहीं कहा तस्माद इत्यादि कहा तस्मात जागृत दृश्यादान स्वप्न व्युत्पत्ति चेष्टा इसलिए जागृत के जितने भी वस्तु हैं उनका स्वप्न में विपरीत देखा गया है मैं खा पी के सोया था वहां पर भूखा पाता अपने को ऐसा करता है ठीक है हेतु स्वपाधिकत्वा भावे जो हेतु है हमारा आत्यंतवत्व हेतु सम्मान है उसको स्वपाधिक नहीं बन सकता व्याप्यत्व सिद्ध नहीं बन सकता सदहेतु हो जाए होने पर सदहेतु हो गए हेतु हो स्वपाधिकत्व भावे हेतु स्वपाधिक का तत्व का अभाव होने पर हेतु में ऐसा होने पर फलित इसमें क्या हो अतो मन्यामहे इत्यादि का इसलिए हम मानते हैं इस बात को सिद्धांत कह रहे मन्यामहे तेषा में भी असत्व मान जागृत भावना में भी असत्व जागृत भाव भी असत्व ही है असत्व एवं इत्यादि का हेतुदय उपसंगति दोनों हेतु का उपसंहार करते हैं आगे जाकर समापन करते हैं तस्मात आद्यंतवत्व उभयत्र समान आद्यंतवत्व हेतु जागृत में स्वप्न में बराबर है वहां भी आत्मत्वत्व है यहां भी आत्मत्वत्व है और वहां मृषात्व भी सिद्ध हो चुका है तो यहां भी जब हेतु है तो जरूर मृषा झूठा है मिथ्या है समान यदि मिथ्य ही बखलते स्मृता कहा वो झूठे ही समझ गए कहा पूर्वादि शंका करता महाराज जो दृष्टांत स्वप्न दिया आपने मिथ्या घोषित करने के लिए यही है आदित्यवत्व हेतु के द्वारा स्वप्नों को मिथ्या घोषित करना चाह रहे हैं किंतु स्वप्न मिथ्या नहीं स्वप्न सत्य है स्वप्न मिथ्या अगर स्वप्न मिथ्या हो तो फिर जागृत को मिथ्या कर पाएंगे दृष्टांत बनाकर स्वप्न ही सत्य हो जाएगा तो जागृत कहां से मिथ्या हो पाएगा ये पूर्वाधिक अभिप्राय है दृष्टांत से साध्य विकल्पम संधित्व करेगी दृष्टांत में साध्य नहीं है मिथ्यात्व का अभाव है आपका साध्य मिथ्यात्व मिथ्या सिद्ध करना चाहते हैं किंतु दृष्टांत जो स्वप्न दिया आपने वहां पर साध्य नहीं है मिथ्यात्व नहीं है सत्य है एक कहता है कैसा कहते हैं वहां कुछ अपूर्व पदार्थ का दर्शन होता है ज्यादातर तो पूर्व पदार्थ का दर्शन होगा पूर्वानुभूत का स्मरण होगा कभी कभी पूर्वानुभूत नहीं है कोई व्यक्ति ऐसा चार हाथ वाले चार दांत वाले हाथी में बैठा हुआ जागृत में अनुभव करता है कि नहीं करता दो दांत वाले में बैठता है और अपने को चार हाथ वाला होकर के जागृत में कोई घूमता है कि नहीं घूमता है स्वप्न में ऐसा अनुभव करता है तो अपूर्व है वहां तो उसको मिथ्या कैसे बोलेंगे तो पूर्व संस्कार से संस्कारित होगा वो तो हो गया मिथ्या जो अपूर्व दिखाई पड़ता है कभी कभी कभी जागृत में अनुभव किया ही नहीं ऐसी वस्तु का दर्शन होता है वो स्वप्न जो होता है उसको मिथ्या कैसे मानोगे वो तो सत्य है तो स्वप्न सत्य है यही पूर्वादि का कहना है यही है कारिका में कहा कारिका में खंडन करेंगे सिद्धांत खंडन करेंगे ये बात अपूर्व वहां पर कोई सत्य नहीं है कारण चाहेंगे अपूर्व स्थान धर्मो ही यथा स्वर्ग निवासिनाम कान अयम प्रेक्षते गत्वा यथ देह अपूर्वम स्थानी धर्मो ही यथा स्वर्ग निवासिना तानयम प्रेक्षते गत्वा यथै देह सुशिक्षित ही अस्मात अपूर्वम स्थानी धर्म स्थानी स्थानम अस्य अस्थिति स्थानी स्वप्न स्थान वाला स्वप्न दृष्टा को स्थानी कहा गया स्थानी माने स्वप्न दृष्टा वो अपूर्व जो मानते हो स्वप्न में तुम सिद्धांत कह रहे हैं जो अपूर्व पदार्थ का दर्शन होता है उसको कैसे मिथ्या कहेंगे ऐसा जो मानना चाह रहे हो वो स्थानीय का धर्म है माने स्वप्न दृष्टा का धर्म है जो धर्म होता है वो स्थानीय से देखा जाता है वो दृश्य कोटि में आ जाएगा और जो दृश्य होता है वो मिथ्या होता है ये वो स्थानीय धर्म है अपूर्वम स्थानीय धर्म ही, ही अस्मात कारणात अपूर्व जो मानते हो स्थानीय का धर्म है स्वप्न स्थान वाला जो व्यक्ति स्वप्न दृष्टा वो स्थानीय है उसका धर्म है वो स्वप्न दृष्टा का धर्म है यथा स्वर्ग निवासियों का जैसे स्वर्ग निवासियों का धर्म दिखाई पड़ता है जैसे इंद्रादि का हजार हजार आंख ऐसा हो जाता है ऐसा वो इंद्रादि देवताओं का धर्म है वो ठीक इसी प्रकार देवता नहीं है यानी जो दृश्य होता है वो अनात्मा होता है अलग होता है स्थानीय धर्म है यथा स्वर्ग निवास नाम जैसे स्वर्ग में रहने वालों का होता है ठीक इसी प्रकार तान एवं प्रेक्षते गत्वा यथेषित उन पदार्थों को जाता है व्यक्ति जाकर के स्वप्न में जाकर के देखता है जिस प्रकार यहाँ सुशिक्षित व्यक्ति होगा उसको मार्ग बता दिया जाए तो उस सुशिक्षित व्यक्ति उस मार्ग से जाकर के वहां के वस्तुओं को देख लेता है जानकारी करके आता है ठीक इसी प्रकार ये जो जागृत अवस्था वाला आत्मा स्वप्न में जाकर के उन पदार्थों को देख लेता है स्वप्न दृष्टा बन करके देखता है ये कहा टिप्पणी एक नंबर स्थानीय धर्म का अर्थ क्या है स्थानी न स्वप्न स्थानवतो धर्म द्रष्टु एव धर्म स्थानीय जो है स्वप्न स्थान वाला है उस दृष्टा का धर्म है वो स्थानीय द्रष्टरी अधिष्ठान होते अध्यस्त जो धर्म होता है अधिष्ठान में अध्यस्त होता है वहां स्थानीय क्या है स्वप्न दृष्टा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं वहां है स्वप्न दृष्टा मात्र केवल अकेला है वो उसी में अध्यस्त है आरोपित है जो अपूर्व जो बोलते हो वो आरोपित है स्थानीय जो स्थान वाला है स्वप्न स्थान वाला जो द्रष्टरी स्वप्न देखने वाला व्यक्ति उसमें अधिष्ठान भूत वो अधिष्ठान वही है जो अपूर्व का अधिष्ठान भूत अध्यस्त है अध्यस्त है वो अपूर्व जिसको बोलते हैं तथा च मिथ्यात्व अध्याहतम जो अध्यस्त होगा वो मिथ्या जो आरोपित तो होगा वो मिथ्या है अध्याहतम इति भाव समय हो गया ये ओम भद्रं कर्णे भद्रम पश्येमाक्षुस्तुवांसस्तम ओम शांति